धरई जाप यज्ञ करु तर करई मराला सही निरंतर जे ताला अब स्मरण करें भगवान शंकर जी पार्वती जी को कालभूषण जी की कथा सुना रहे हैं नीलगिर पर्वत पर कालभूषण जी का वास है उस नीलगिर के ऊपर चार संग हैं उनके ऊपर चार वृक्ष हैं और बीच में एक सरोवर है उसमें हंस हैं भ्रमर हैं कमल हैं बहुत सुंदर सरोवर है वही उनका आश्रम है वास करते हैं कालभूषण जी अब वहाँ कैसे रहते हैं उसका वर्णन करते हैं कहते हैं कि तेई गिरी रुचिर बसई खग सोई सोई खग मैंने कालभूषण जो है उसी पर्वत पर वास करते हैं ताश नाश कल्प अंत न हुई उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता कल्प सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया एक कल्प बीत गया लेकिन कल्प बीत जाने पर भी उनका नाश नहीं मवेशी तो और नाश कलयुग में ही बार बार जलते मरते रहे या सतयुग में बार बार जलते मरते रहे और प्राणी लेकिन इनकी इतनी दीर्घायु की कल्प कल्प बीत जाए लेकिन ये जो है फिर भी इनका शरीर छूटे नहीं सदा बना रहे ऐसे शरीर वाले हैं अब ये क्यों ऐसा शरीर इनको प्राप्त हो गया वो कथा बाद में आएगी अभी ऐसी बातें बोलते जाते हैं जिससे कि इनके भी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती ऐसा क्यों है इतने काल तक कैसे बने रहे तो उसको जो है बताते हैं कि कल्प के अंत तक इनका नाश नहीं होता बराबर वहां वास करते हैं मायाकृत गुण दोष अनेका कहते हैं कि देखो वैसे तो माया के तमाम गुण दोष हैं और मोह मनोज आदि विवेका मोह है काम है अज्ञान है ये सब उसे माया के कार्य हैं उसी के कारण सभी उत्पन्न होते हैं रहे व्याप्त समस्त जग ही ये तो सारे संसार में व्याप्त है लेकिन तेई गिर निकट कदम नहीं जाही लेकिन उसे नीलगिर के पास तो कभी जाते ही नहीं मैंने नीलगिर के पास माया का प्रभाव नहीं है वहां माया का उसका असर नहीं है अब ये एक बात ये माया का प्रभाव नहीं है तो माया के कारण ही काल का भी प्रभाव है काल जो है माया के अंतर्गत ही है माया जहाँ माया कृत जहाँ सृष्टि है वही काल भी है लेकिन अब यहाँ कालभूषण ऐसे हैं कि जब न इनके यहाँ माया इनके पास आती है न काल आता है कालातीत होकर के वहां वास करते हैं और माया के जितने की भी गुण दोष है वो सब कोई नहीं दोस्त तो है ही नहीं माया के दोस्त तो बिना भी दिए कुछ जैसे मोह मनोज भी विवेका ये तो आते ही नहीं है लेकिन मायाकृत गुण गुण के तात्पर्य है कि सतुरेश तमस वो भी माने आते और उनके कारण से तीनों गुणों के कारण से दोष उत्पन्न होते हैं ये त्रिगुणात्मक माया में ही समस्त दोष हैं तो वो भी फिर नहीं आते जब माया नहीं तो तीन गुण नहीं तीन गुण नहीं तो तीन गुण से उत्पन्न होने वाले फिर विकार या दोष वो भी सब नहीं ये सब आ और काल भी वहां नहीं इस प्रकार माने ये स्थिति जो है कोई त्रिगुणातीत स्थिति है अब त्रिगुणातीत स्थिति जहां है बस समझो कि वही चार वृक्ष हैं वही चार संघ है वही नीलगिर पर्वत है अब इस प्रकार से अर्थ लगाना पड़ता है उसको सोचना पड़ता विचार करो तो पता लगता है कि है इसी में सब कहीं अर्थ लेकिन ढूंढना पड़ेगा उसमें देखो इस प्रकार से जो कि कालातीत है त्रिगुणातीत है इस अवस्था को ये पहुंच गए थे कहा बस हरी ही भजे ही जिम कागा और कहा कि कालभूषण वहां पास करते हुए सदा भगवान का भजन करते रहते हैं कैसे सो सुनो माँ सहित अनुरागा उनका भजन कैसे चलता है भगवान का तो सुनो पार्वती हम तुमको सुनाते हैं वो समझो अब इसमें थोड़ा सा ये भी है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करके भी भगवान का भजन होता रहता है साधना चलती रहती है लेकिन ये इस बात की सूचना नहीं है कि अभी किसी प्रकार की कमी है साधक लोग भी इस प्रकार से साधना निरंतर करते रहते हैं शास्त्र ये कहते हैं जो सिद्ध अपने आप को समझें परमात्मा ब्रह्म भाव में इससे समझें उनका भी काम है कि निरंतर इसी प्रकार से साधना में लगे रहें सारे जीवन इसी प्रकार से करता रहना चाहिए जब तक जीवन चलता है तब तक यही करते रहें ऐसे ही कालभूषण जी वहां पर कर रहे हैं अब क्या साधना कर रहे हैं ये देखते हैं कहते हैं कि पीपल तल तल ध्यान ही पीपल के वृक्ष के नीचे सबसे पहले पीपल का नाम पहले लिया वैसे बट पीपल पाकरी रसाला बट से शुरू किया था लेकिन यहाँ पहले नाम देते हैं पीपल का क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या बतानी है तो जैसे सवेरे सबसे पहले उठे तो पहले क्या करना है ध्यान तो कहते हैं सबसे पहले उठ करके उन्होंने पीपल पर कर ध्यान सुधार ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो ध्यान करते जाप जग के पाकर कर करी ध्यान कर चुके तो उसके बाद में फिर क्या करें अब थोड़ी देर फिर नाश्ता वास्ता ले आराम आराम कर ले फिर उसके बाद में फिर को अब चलो कहाँ पाकर पाकर के दर्शन से चले और वहां पर फिर चक्कर में लगे बैठ करके थक गए तो गए तो थोड़ा सा आराम कर लिया खाना ना खा लिया सोसा लिए तो पैर में आराम कर लिया फिर तो उसके बाद में मुंह उठे तब फिर क्या किया उन्होंने आम छा कर मानस पूजा और चाय रात के चार बजे बैठ गए आम के वृक्ष के नीचे आपस मानस पूजा करने लगे तो मानस पूजा माने कोई ध्यान जैसा इस प्रकार से है अपने मन में भगवान का स्मरण किया और उनकी पूजा करें प्रातः काल जो ध्यान किया था वो निर्गुण आकार में उनका ध्यान किया अब आकर के सगुण रूप का ध्यान करने लगे और उनका पूजन भी करने लगे मानसिक रूप में आम छा कर मानस पूजा और करे हस्त है भजन कार्य नहीं पूजा इस माने के काम ये कही कि वही भगवान का भजन नाना प्रकार से है चाहे ध्यान करो निर्गुण का चाहे सगम का चाहे जप करो और चाहे कथा सुनाओ एक बात और रहेगी कहते हैं कि की पर कर करके हरिकथा हरि कथा गंगा बट वृक्ष के नीचे कुछ सायंकाल बैठते हैं वहां पर भगवान की कथा होती है भगवान की कथा सुनाते हैं बट वृक्ष के नीचे और आवे सुनेंगे तो अनेक विहंगा और मुख्य बात यही है सर में इसी को आकर के भगवान शंकर जी सुनने गए थे ना तो अपनी बात बताते ही फिर आप वहाँ पर कथा सुनाते हैं सायकाल इसलिए बाद में इसका विस्तार करते हैं ज्ञान कैसे करते हैं वो बताते नहीं ज्यादा जब कैसे करते हैं उसका ज्यादा विस्तार नहीं करते लेकिन कथा प्रसंग कैसे चलता है उसका विस्तार सुनाते हैं कहते बदतर करके कथा प्रसंगा आम सुनाई अनेक व्यंगा अब कथा सुनाते हैं तो उसके पक्षी सुनने के लिए आते हैं स्वयं बाघभूषण जी पक्षी है तो सुनने में इतने आते सब पक्षी ही आते हैं निहंगा और रामचरित विचित्र विधि नाना और प्रेम सहित कर सादर गाना भगवान के नाना प्रकार में चार युग होते हैं सतयुग है त्रेता है द्वापर है कलयुग है तो उनमें ये बताया गया कि किन किन में कौन कौन सी साधनाएं मुख्य हैं तो वहां वर्णन है ध्यान साधना जो है वो हो सत्युग की है तो यज्ञ जो है वो हो त्रेता युग की है पूजा जो है वो फिर द्वापर की है और कोई तो भगवान की कथा जो है कलयुग की साधना है ये व्यक्ति के जीवन में भी जिनके प्रति ये कार्यक्रम चलता सत्युता पर देखा था एक सत्युता पर तो हजारों हजारों वर्षों का होता है एक प्रकार चलता है एक के बाद एक आता है और एक बड़ी सदी में उसका छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं तो छोटा भी अपने अंदर में हो एक दिन में शरीर छोटे शाम तक चालीस बीते और हो गया